सर्व संख्या तीन के बाद देती पवन सुत पति अनुकूला गए हर से बीती सब सूला नाथ शैल पर कपिपति रही सुग्रीव दास तब आई कृष्ण नाथ मयत्री कीजे दीन जान के अभय करिए तो सीता कर खोज कराई जहाँ तामर कट को पठाई यही विधि सकल कथा संघाई

आदर मिले नाई पद माथा बेटे अनुज सहित रघुनाथा कभी कर मन विचार यही रीति करियई विधि मोहन रे प्रीति तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाए

<coughs> अब स्मरण करें ऋषि पर्वत के निकट भगवान राम और हनुमान जी मिले <coughs> भगवान श्री राम जी ने <coughs> हनुमान जी से कहा कि तुम अपने मन में ग्लानी मत करो तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो और ये भी कह दिया लक्ष्मण जी से तुम तुमने प्रिय हो पर हनुमान जी ने कहा कि तो मैं तो आपका सेवक हूँ <clears throat> तो भगवान राम ने भी कहा कि सेवक कौन है <clears throat> और अनन्य कौन है वो बता दिया कि समुद्र सिंह सब कह सेवक प्रिय अनन्य गत कि सेवक वो है जिसमें कि अनन्य भाव हो तब वो सेवक है भगवान की सेवक में परमात्मा की सेवा की बात है कि अगर प्रभु का परमात्मा का कोई सेवक है तो उसमें अनन्य भाव होना चाहिए और अनन्य भाव क्या है कि सो अनन्य जाते असी मत न डरे हनुमंत हनुमान जिसकी की बुद्धि इस प्रकार की हो दृढ़ बुद्धि में ये बात हो क्या कि मैं सेवक सुतराकर रूप तो स्वामी भगवंत मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी है लेकिन भगवान के मैंने क्या दूसराचर का स्वामी है चराचर का स्वामी इसका जो है वो चराचर रूप स्वामी अब देखो इसमें जो है कल विचार कर रहे थे कि ये परब्रह्म परमात्मा का ही जगत रूप है चराचर जितना भी जगत है सब परमात्मा का ही रूप है और रूप से परमात्मा का क्या संबंध है वो स्वामी शब्द से पता चलता है कि परमात्मा जो है वो नाम रूपात्मक जगत का स्वामी है और जगत परमात्मा का रूप है तो अब परमात्मा और जगत का संबंध किस प्रकार के है ये बार बार विचार करना चाहिए अपने हृदय में देखने भी क्या है रूप जितने हैं माया में है माया परमात्मा की शक्ति है उससे भिन्न नहीं है इसलिए परमात्मा ही एकमात्र सर्वत्र है वही अपनी माया शक्ति के द्वारा नाम रूपा धारण करके जगत के रूप में भाषित होता है हम लोगों को केवल जगत ही दिखाई देता है परमात्मा नहीं देख पाते जगत ही जगत दिखाई देता है तो ये जगत भी ऐसा समझे कि परमात्मा का ही रूप है और परमात्मा की अगर हमें सेवा करनी है तो इस जगत की ही सेवा करेंगे जगत में सब पूज्य है सब आदरणीय है सबसे उनकी सबकी सेवा होनी चाहिए ये सबको मिला करके होल करके इसको सबको स्वामी समझे और अपने आप को सेवक समझे सेवक भाव व्यक्ति जब इस प्रकार का भाव रख करके जगत की सेवा करेगा तो फिर परमात्मा की कृपा से उसका देव भाव भी छूट जाएगा जीव भाव भी छूट जाएगा और आत्मभाव में आ जाएगा भगवान की जो जिस भाव से पूजा करता है वही फल भी प्राप्त होता है ये भगवान की विशेषता है नाना भावों से लोग भगवान की पूजा करते हैं जो जिस भाव की पूछता वही उसे प्राप्त होता है इस प्रकार से भगवान ने बोला तो हनुमान जी संतुष्ट हो गए आप कहते हैं देख पवन सतपति अनुकूला देखा कि भगवान तो अनुकूल है अपना सेवक उन्होंने स्वीकार कर लिया है और मुख पर उनका प्रेम भी है तो हृदय हरस बीती सब सूला तो उनका सारा सूल भुला गया मतलब दुख भुला गया था और उनके हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया प्रसन्न हो गए हनुमान भगवान की वाणी सुन करके अब हनुमान जी नाथ शैल पर कपति रही अब हनुमान जी बोले भगवान राम से कि इस पर्वत के ऊपर कपिपति रही हाँ, सो सुग्रीव अब जो कपिपति है वो सुग्रीव है दास तब आही वो आपका दास है अब देखो हनुमान जी क्या कहते हैं इसके ऊपर अगर विचार करो ध्यान दो वैसे तो पढ़ते चले जाओ तो आपको <clears throat> शंका कोई भी नहीं लगेगी पढ़े चले जाओ उसमें क्या बात ही है लेकिन विचार करने लगो तो कहते हैं ना तो शैल पर इस पर्वत के ऊपर कपिपति राही कपिपति माने जितने दानवों का जो राजा है वो रहता <clears throat> अब आपको मालूम है कपिपति तो बाली है सुग्रीव नहीं है एक हनुमान जी आप जानते झूठ बोलते हैं है तो बाली राजा और उसकी और सेल के ऊपर सुग्रीव रहता है उसको सुग्रीव को कह दिया उतर राजा है तो ये बात सब तक पता चलेगी जब आगे कथा आगे बढ़ेगी तब ये बात प्रकट हो जाएगी कि बाली राजा नहीं है राजा सुग्रीव ही है क्योंकि आगे जब कथा आएगी तो उसमें मालूम होगा कि बाली राजा था लेकिन जब वो मैदानों के पीछे भागा भागा गया और गुफा के भीतर घुस गया तब वो सुग्रीव से बोल गया कि अगर मैं एक महीने में एक पखवाड़े में मैं न आऊ तो तुम समझ लेना कि मैं मारा गया हूँ उसके बाद तुम राजा हो जाना और राज्य व्यवस्था तुम करना समझा में मारा गया तो पंद्रह दिन के बजाय महीने भर तक वो रास्ता देखता रहा सुग्रीव लेकिन जब बालिक उसके भीतर से नहीं निकला बल्कि वहां खून की धारा बह निकली तो सुग्रीव ने समझ लिया कि मारा गया बाल ही ऐसा समझ करके लौट आया लोगों को बताया कि वो तो ऐसा ऐसा हुआ मंत्रियों से सबसे कहा तो मंत्रियों ने सबने मिल करके <clears throat> तो सुग्रीव को राजा बना दिया सिंहासन पर बैठाला उनका अभिषेक जैसे किया जाता है राजा का उस प्रकार से अभिषेक कर दिया और सुग्रीव ही राजा हो गया मंत्री जो होंगे उनके सुग्रीव के हुए जानमान हनुमान नल नील ये चार मंत्री मुख्य थे उनके तो इन सब ने मिलकर के सुग्रीव को राजा बना दिया अब जब बाली गुफा के भीतर से निकला तो उसने देखा जरे सुग्रीव राजा बना बैठा यहाँ पर तो उसे गुस्सा आ गया और उस मारने को दौड़ा उसको सुग्रीव को तो सुग्रीव भागा लेकिन उसके बाद बाल जो है वो सुग्रीव को तो उसने भगा दिया और सुग्रीव भाग कर उसे डर के कारण रश्मि पर्वत पर भी आकर के बैठ गया आकर के जहाँ पर बाल नहीं आ सकता था तो <coughs> सुग्रीव के मंत्री जो थे वो भी सब इनके साथ सुग्रीव के साथ ही आ गए हनुमान जी भी आ गए जामदान भी आ गए नंदी भी आ गए ये सब सुग्रीव के पास आ गए <coughs> बाल के पास कोई मंत्री नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती करके राजा बन गया कोई नया मंत्री बना ले तो बागन बना ले और राजा अगर सिंहासन के ऊपर बैठे तो अपने मन से बैठ गया है मंत्रियों ने उसको बाली को राजा बनाया नहीं इसलिए <clears throat> विधि के अनुसार विचार करें न्याय से तो इस समय जब तक की जनता और मंत्री इत्यादि सब राजा को राजा स्वीकार न करें तब तक वो राजा होता नहीं है हालांकि जबरदस्ती करके बाली समय राजा के पद पर बना बैठा हुआ है इसलिए हनुमान जी मंत्री है इसलिए मंत्री का की दृष्टि से वे सुग्रीव को ही राजा अब भी मानते हैं वो बालू को राजा मानते नहीं इसलिए उनसे कहते हैं कि ये कि नाथ शैल पर कपि कपिराई कि कभी कपिराज सुग्रीव जो है वो पर्वत के ऊपर वास करते हैं रहते हैं सो सुग्रीव दास तब आई और वो सुग्रीव आपका मानते है सेवक है आपका तो सेवा कब से करने लगा सुग्रीव भगवान की अभी भगवान मिले नहीं और उनकी सेवा में सुग्रीव पहले ही से लगा हुआ है तो सब बातें अद्भुत बातें लगती है कि क्या बोले चले जा रहे हैं हनुमान तो जब तक ज्यादा विचार न करो तब तक आपको पता नहीं लगे कि इसके पीछे सत्य क्या है अगर भगवान राम नहीं मिले सुग्रीव को तो सुग्रीव भक्त उनका दास कैसे हो गया अब देखो कभी कभी कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं जो कि भविष्य की संभावना को रख करके भी भूली जाती है जैसे भगवान राम हम्म, जब देखते हैं कि दंडकारण्य में थे तब वहां सूचना खाई और जब सूचना खाई तब लक्ष्मण जी के पास जब भगवान ने भेजा तो लक्ष्मण जी ने सूचनखा से कहा कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा तो इसके माने लक्ष्मण जी झूठ बोले कौशलपुर राजा या तो महाराज दशरथ थे या उसके बाद भरत जी थे उसमें भगवान राम कहां से राजा लेकिन भगवान राम ही राजा होंगे या तो ऐसा लगाना पड़ेगा या ये मानना पड़ेगा भगवान के ही चरण पादुकाएं तो वहां विराजमान है भरत ने राज्य स्वीकार ही कहाँ किया है है जब इस तरफ ध्यान देंगे तब पता लगेगा कि भगवान राम कौशलपुर राजा वहाँ राजा न हो तो भी कौशलपुर राजा वही भगवान राम है ऐसे ही सुग्रीव के संबंध में ये बात और बाली के संबंध में भी इसी प्रकार से है कि हनुमान जी जो है वो पहले से उन्होंने भगवान ने प्रभु पहचान पर चरण अरे हनुमान जी ने तो प्रभु तो जब मिले और प्रभु उनको स्वीकार करें तब उनके प्रभु हुए लेकिन पहचानने के तो माने तो ये कि भगवान राम पहले से ही उनके प्रभु थे उन्होंने पहचान लिया तो पहले से कोई कहा है तो जब तक अंतर कथाएं नहीं देखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि ये सब कवि जितने हैं ये सब देवरूप हैं और ये सब देव भगवान के भक्त हैं ये ये जैसे कि भगवान शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं इसी प्रकार से सूर्य के अंश या अवतार सुग्रीव तो ये सब के सब परमात्मा के सब सेवक हैं उपनिषदों में आता है कि अग्नि है सूर्य है यम है ये सब देवता जो है वो सब परमात्मा के वज्र के डर के मारे सब अपने अपने काम में सुचारू रूप से लगे हुए हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं ये सब सेवक है भगवान के तो इससे ये भी जो है सुग्रीव भी भगवान के सेवक हैं और आगे चल करके सेवक हो भी जाते हैं भक्त हो भी जाते हैं तो आगे की संभावना को देख करके हनुमान जी ने पहले कह दिया तो, तो आपका भक्त ही है दास तब आई वो तो आपका दास है सेवक है और तेई समय नाथ मैत्री की गए और इसलिए ये सब बताया अब ये बात संक्षेप में सब कही लेकिन थोड़ा और यहाँ पर तुलसीदास ने संक्षेप में कहा क्योंकि विस्तार आगे आने वाला है इसलिए यहाँ भी नहीं कहते हैं लेकिन हनुमान जी ने बहुत बातें उनको कह दी कि वो बानर राज है और उस समय राजा है जरूर उसका भाई ने छीन छान राज्य लिया है लेकिन राजा वही है और वो समर्थ है तो कहते हैं कि तेईसन नाथ में प्रीत कीजिए उससे चल करके आप मित्रता करेंगे दीन जान के ही अभय करीजिए अब वो समय दीनावस्था में है राज्य उसका छिन गया है तो उसको अभय कर दें अभय कर देंगे ना उसका भय छूट गया आपकी शक्ति प्राप्त होगी तो उसका भय छूट है हम्म। अब हनुमान जी को भी चिंता है कि सुग्रीव का भय छूटे अब हाँ, ये नहीं कहते हैं उसका खोया हुआ राज्य से मिल जाए तो ये भय शब्द जो आ रहा है ये आध्यात्मिक दृष्टि रख करके आ रहा अर्थ ये भी लग जाता है कि बाली से भय है और राज्य जो बाली ने छीन लिया है वो राज्य भी सुग्रीव को प्राप्त होना चाहिए ये भाव लौकिक अर्थ में है और आध्यात्मिक अर्थ में ये कि जैसे पहले कह के देखा है अति सभी कैसे मानो माना तो वो पहले ये जो है सुग्रीव जो है बड़े भयभीत रहने वाले हैं तो वो हनुमान जी को इसकी चिंता की उनका भय दूर हो तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीन जानते ही अभय करीजे उसे आप अभय बना दें मैंने उसकी सहायता करें तो जब वो उसका डर छूट गया दानी से और सो सीता कर खोज कराई अभय में देखो कहाँ तक काट लग गया कि बाल को से हटा करके सुग्रीव को राजा बनाइए बाली चाहे मरे या राज छोड़ करके जाए <coughs> सुग्रीव राजा बने और सुग्रीव को आपकी शक्ति प्राप्त हो तो वो अभय हो जाए और जब राजा हो जाएगा और अभय हो जाएगा तब क्या करेगा कि सो सीता कर खोज कराइए फिर वो सीता जी जो निशाचर लोग ले गए हैं तो उनके फिर वो खोज कराएगा वो और जहाँ तहाँ हमारे पति कोटे पठाइए और यहाँ वहाँ बहुत से बानरों को खोज करने के लिए कोट में बानर उसके अधीन है सारी प्रजा उसकी जो है सब बानर ही बानर है तो इसलिए उतनी साल लाखों करोड़ों लोग जितने हैं उन सबको जो वो वो सीता जी की खोज पे लगा देगा सब सुख खोज करेंगे तो यही विधि सकल कथा समझाई तो ये सकल कथा समझाई कि मैंने तुलसीदास जी कहने का मतलब हमने कहा यहाँ पर तो संक्षेप में बात कर रहे हैं लेकिन तो हनुमान जी ने सब बात पूरी हनुमान भगवान श्री राम जी को समझा दी और <clears throat> भगवान राम को भी अगर लौकिक जिससे विचार करें तो सऊदी की बात याद आ गई कि तुम पंपापुर के पास जाओ सरोवर के पास और फिर वहां से वो विष्णु पर्वत पर सुग्रीव तुम्हें मिलेंगे वहां तुम्हारी उनसे मित्रता होगी तो भगवान ने भी देखा कि हाँ अब उसके जो है वो भूमिका तैयार हो गए हनुमान जी मित्रता कराने के लिए हमको वहाँ ले जाना चाहते हैं तो चलो सुखदेव से मित्रता करनी चाहिए ठीक है यही दीदी सकल कथा समझाई और लिए दोनों पीठ चढ़ाई और दोनों लोगों को हनुमान जी ने पीठ पर बैठा लिया अब पीठ पर चल बैठा लिया अब सेवा शुरू हो गई यहाँ से हा? ये सेवा कार्य पहला सेवा यही की कि उन्होंने अपनी पीठ पर भगवान राम को और लक्ष्मण जी को दोनों को बैठा दिया कहीं कहीं चित्र हम देखे होंगे हनुमान जी सीधे चलते हैं पुरुषाकार रूप में दोनों पैरों के बल खड़े होकर के पुरुष की तरह चलते हैं और हनुमान भगवान राम को लक्ष्मण जी को जो बैठाला है तो कहाँ बैठाला है कंधे पर बैठाला एक कंधे पे घर बैठे एक कंधे पर बैठे लेकिन ये साफ सम्मत बात नहीं है ये चित्रकार सम्मत बात है अलग अलग सम्मतियां हैं चित्रकार की सम्मति अलग है ग्रंथकार की सम्मति अलग है यहाँ तुलसीदास जी भी ये नहीं कहते कि उन्होंने कंधों के ऊपर बैठा लिया और वाल्मीकि जी भी नहीं कहते उन्होंने कंधों के ऊपर बैठाया इन सबको जो है वाल्मीकि जी को और तुलसीदास जी को ये बानर जैसे बानर चार पैर से चलते हैं वैसे ही चलते दिखाई देते हैं है? हाँ? लेकिन अन्य लोगों को जो है वो हो ये हनुमान जी भी दो पैर से खड़े होकर के सीधे चलते मनुष्य की तरह से चलते हुए अन्य लोगों को दिखाई देते हैं तो अपनी अपनी दृष्टि है किसको क्या दिख रहा है तो हनुमान जी के पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे तो चारों पैर से चले हैं तब वो बैठाने कहा कंधे में बैठा तो लड़क गए तो इसलिए पीठ के ऊपर सीधे सीधे जैसे घोड़े के पीठ पर कोई बैठे दो व्यक्ति इसी प्रकार से दोनों को पीठ के ऊपर बैठा लिया और हनुमान जी चलते दिए अब यहाँ से देखो <clears throat> शक्ति की भी सूचना है जो देखो कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली अतुल के बल धामम स्वर्ण शैलाग देहम तो हनुमान जी का कितना बल है कि इतने शक्तिशाली <clears throat> जो उन्होंने पुरुष जुगुल बल रूप निधाना सुग्रीव ने देखा था बड़े शक्तिशाली दो पुरुष चले आ रहे हैं तो शक्तिशाली पुरुष हैं तो इसके माने ये है कि इनको पीठ के ऊपर दो दो एक साथ बैठा ले और पर्वत के ऊपर चढ़ जाए है? तो ये तो फिर बड़े ही शक्तिशाली महापुरुष तो की बात है वही ऐसे कर सकता है तो उन्होंने दोनों को पीठ पर बैठा और चल दिए पर्वत के ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए दो बैठ पीठ पर लेकर तो भगवान ने भी देखा कि हाँ हनुमान जी ने भी ताकत तो खूब है, हैं? और ये सेवा कार्य करेंगे तो सेवा कार्य भी खूब कर सकते हैं तो भगवान का सेवक होने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है शरीर में भी ताकत हो शरीर से कमजोर होगा तो भगवान की क्या सेवा करेगा अगर संसार की सेवा करने के लिए परमात्मा का स्वरूप सारा जगत है ये देख करके भाई हम सब समाज की सेवा करेंगे सारे जगत की सेवा करेंगे ऐसा भाव लेकर के चले शरीर में ताकत है उसके न हो स्वयं उठना बैठना मुश्किल हो दो आदमी एक इधर हाथ से पकड़े और एक हाथ उधर पकड़े और से खड़ा करें अब कहो चलो तुम आज समाज की सेवा करो तो बेचारा क्या करें इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखो ठीक ठाक बनाए रखोगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रखोगे तो भगवान की सेवा नहीं होगी तो शरीर को स्वस्थ इसलिए न रखो कि हमारी आयु दूर हो जाए शरीर को स्वस्थ इसलिए न रखो जिससे कि संसार के विषय भोग प्राप्त करने की सामर्थ्य भोगने की क्षमता बनी रहे शरीर को स्वस्थ इसलिए रखो कि बिना शरीर को स्वस्थ रखे भगवान की सेवा कैसे इसलिए हनुमान जी की तरह से जो वो जब भगवान की सेवा करनी तो शरीर को भी स्वस्थ रखो लेकिन मन को भगवान को समर्पित रखो भगवान की सेवा में मन को लगाए रखो उसी में तो भगवान को अपनी पीठ पर दोनों को भगवान राम को और लक्ष्मण जी को ले लेते हैं दिए जन पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहूँ देखा हनुमान चढ़ते चले गए पर्वत के ऊपर और जहाँ सुग्रीव था उसके पास तो अब सुग्रीव को डर नहीं लगा देखा कि हनुमान जी स्वयं दोनों को पीठ के लिए चले गए <clears throat> तब सुग्रीव वही बैठा रहा और समझ गया इशारा भी सम इशारा हनुमान जी ने किया नहीं सुग्रीव ने कहा था कि स्वयं बुझाई करके कहा था इशारा कर देना तुम वहां से कि अगर कोई बाल के भेजे आए हों पटवा हो बाली मन महिला ऐसा कहा था तो कहते हैं कि वो <clears throat> हनुमान जी ने कोई इशारा इस प्रकार का नहीं किया सुग्रीव को भागने के लिए इससे सुग्रीव भागे भी नहीं और हनुमान जी ने उनको जो है दोनों को सीट पर लेके जब चले तब वो सुग्रीव समझ गया अगर जब स्वयं दे करके आ रहे हैं इनको तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है तो सुग्रीव निडर होकर के वहां उनकी प्रतीक्षा करता रहा ऊपर से देखते हुए और भगवान राम लक्ष्मण जी को दोनों को सुग्रीव के पास ले जाकर के भगवान ने पीठ से उतार दिया तब सुग्रीव राम कहूँ देखा तब सुग्रीव ने भगवान राम के दर्शन निकट से किए पहले दूर से देख रहा था अब पास आ गए तो उसने देखा अभी ये तो राम ही है भगवान राम आ गए अतिशय जन्म धन्य कर लेखा और उसने उसी समय जो अपने जीवन को भगवान के दर्शन प्राप्त करके धन्य समझा अभी देखो विशेष परिचय नहीं हुआ हनुमान जी ने बताया भी नहीं कि हम किसको ले आए हैं कौन है क्या नहीं है लेकिन जैसे हनुमान जी ने भगवान राम को पहले देखा क्योंकि भगवान के भक्त के हनुमान जी इसलिए दर्शन प्राप्त करते ही बिना परिचय के ही उनके मन में ये समझ में आ गया ये हमारे स्वामी है ऐसा भाषने लगा और तो उसके बाद में फिर उन्होंने परिचय पूछा तो पहचान भी लिया इसी प्रकार से सुग्रीव को भी इसी समय से भाषित होने लगा कि ये तो हमारे स्वामी भगवान पर ब्रह्म परमात्मा ही है वो ही मानो आ गए हैं और उनका तेजस्वी रूप देखा शक्ति देखी सुंदर स्वरूप उनका देखा ऐसा रूप देखा जैसा कि मनुष्यों में भी कहीं इस प्रकार के सुंदर रूप नहीं होते बानरों की तो बात क्या है <clears throat> मानवों में इतनी सुंदरता नहीं देखी जाती ऐसे बलिष्ठ तेजों में नहीं देखे जाते वैसे उनको देखा तो उसने कार्य योग्य तो हमारी सहायता के लिए बड़े ही शक्तिशाली पुरुष आ गए और तो उसने अपनी जन्म को कहा समझा कि अब जो है हमारा काम बन जाएगा हमारा भय त्याग दूर हो जाएगा और बाल उसके अंदर छूटेगा बाल से विजय प्राप्त होगी ये सब उसके मन में आ गया तो सागर मिले नाव पद माथा तो कहते हैं उसके बाद फिर वो हो बड़े आदर के साथ में भगवान श्री राम जी के चरणों में शरीर में झुक करके प्रणाम करके और उनसे बहुत प्रेम पूर्वक मिला सुखदेव यज्ञ राजा है अब इसके वैसे तो चाहो तो बीच में ये भी जोड़ सकते जब हनुमान जी भगवान राम को लेकर के सुग्रीव के सामने खड़ा कर दिया तो हनुमान जी ने बता भी दिया संक्षेप में कि ये तो कौशल नरेश के पुत्र हैं ये भी महाराज हैं ऐसे करके मैंने लौकिक पक्षे को अगर दे दिया हो तो भी हो सकता है कि वो समझ गए हो सुग्रीव के जैसे हम राजा हैं तैसे हमसे भी महान ये राजा सम्राट हैं और उनसे हमें सहायता प्राप्त होगी इसलिए उनके चरणों में हमने प्रणाम किया हो दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हनुमान जी जब उनको पीठ पर चढ़ा करके लाए हैं तो स्वयं सुग्रीव ने समझ लिया हो कि जब हनुमान जी इनका इतना आदर कर रहे हैं और इनको अपने इष्ट देव के समान पूजनीय के समान उनको ले रहे हैं तब ये भी हमारे लिए पूजनीय होंगे ही होंगे ऐसे करके भी सुग्रीव ने मान लिया हो तो <clears throat> कहते हैं जो सादर मिले नाई माथा और भेंटे अनुज सही तरफ नाथा और उसके बदले में भगवान ने क्या किया भगवान राम ने भी उससे सुग्रीव को अपने हृदय से लगा करके मिले भेंटे मैंने उसके हृदय से लगा कर छाती से लगा करके उनसे मिले और फिर उसके बाद लक्ष्मण जी भी मिले जब भगवान राम ने ऐसे किया तो वैसे लक्ष्मण जी भी सुग्रीव को छाती से लगा करके उससे मिले इस प्रकार इस प्रकार से दोनों ने <clears throat> एक प्रकार से निकटता हुई आदर एक दूसरे का दोनों ने किया तो कपि कर मन कपि कर विचार मन विचार यही भांति रीति तो अब वो सुग्रीव जी अपने मन में किस प्रकार से विचार करता है सुग्रीव के मन में विचार चल रहा है कि करी करी विधि मौसम ये प्रीति क्या हमारे साथ इनकी मित्रता होगी हे पिताता ऐसा मैंने वो इच्छा होने लगी सुग्रीव की कि हमारे मित्र सहायक बन जाए तो इनसे हमारा काम हो सकता है माने जो भय के कारण बालिक से डरा हुआ पर्वत पर बैठा हुआ है सुग्रीव तो सोचता है कि इनसे हमारी मित्रता हो जाए ये हम हमारा इनसे ये अब हम भले सुग्रीव सोचता भले हम इनसे प्रीत करें लेकिन हम बानर ठहरे और ये हमारे ऊपर प्रीत करेंगे कि नहीं करेंगे रखेंगे नहीं रखेंगे ये संदेह उसके मन में है इसलिए जब वो अपने मन में इस प्रकार से विचार करने लगे तो अब उसके सुग्रीव के मन में विचार आता है कि भगवान हमारे साथ मित्रता करें प्रेम करें तो भगवान राम तो परमात्मा हृदय की बात जानने वाले हैं तो सुग्रीव की इस बात को पूरा भी करते हैं उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि फिर मित्रता कर लेते हैं भगवान राम सुग्रीव से तो हनुमान जी ने तो फिर उसी प्रकार के संयोग आगे जुटाया तब हनुमंत उभय दिशे की सब कथा सुनाए फिर कहते इसके बाद हनुमान जी ने दोनों तरफ की कथा विस्तार के साथ सुनाई भगवान राम की कथा सुनाई सुग्रीव को समझाया कि जो जो भगवान राम ने पहले बताया था वो वो सब बताया कि हम कहाँ कौन कौशलेश दशरथ के जाए इत्यादि और पितृवचन मान बनाए इत्यादि वो सब बातें जो भगवान ने कही थी वो सब जो कुछ भगवान राम के संबंध में हनुमान जी समझ पाए थे वो सब सुग्रीव को बता दिया और ये भी बता दिया कि सीता जी थे <clears throat> सीता जी का हरण हो गया उनके साथ उनकी पत्नी थी तो वो भी शासन ले गए ये भी बता दिया और उधर उनका भी बता दिया सुग्रीव का भी कि सुग्रीव राजा इस प्रकार के बन गए थे और राजा बनने पर फिर उसके बाद जो वो <clears throat> बाली आया और इसने इनको भगा दिया हम्म, और ये भी इनका राज्य भी ले लिया और उनकी पत्नी भी छीन ली अब ये सुग्रीव जो है ये भी राज्य विहीन पत्नी विहीन अब देखो दोनों की मित्रता जो है बिल्कुल समान की मित्रता हो गई अपने अमित वचन ये कहा जाता है मित्रता समान से करनी चाहिए अगर एक व्यक्ति की पत्नी हरण हो गई है तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए उसकी भी पत्नी हरण हो गई है? अगर एक राज्य चला गया हो तो उस दूसरे ऐसे राजा से मित्रता करनी चाहिए जिसका उसका भी राज्य चला गया हो है? तो समान से जब दोनों की मित्रता इस प्रकार से हुई तब दोनों तो, दोनों को हो गई एक दूसरे पर है? भगवान राम को भी हो गई सुग्रीव की और सुग्रीव को हो गई भगवान राम की हम्म? तो दोनों के मन में ये होने लगी कि हम इनसे सहायता लें और ये हमसे सहायता लें इस प्रकार से दोनों के मन में आ गई इतनी कितना काम हनुमान जी ने कर दिया ये तो लौकिक दृष्टि कथा है आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि भक्त को भगवान से मिलाने वाले भक्त ही होते हैं हाँ? <clears throat> यही बात हनुमान जी भगवान के भक्त हैं तो वही फिर सुग्रीव को भगवान से मिलाते भी है ये सर्वत्र आगे चल करके लिए देखेंगे सिद्धांत किसी प्रकार का है जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तब विभीषण मिलता है तो विभीषण के मन में भी हनुमान जी प्रेरणा ये देते क्या रावण की सेवा एवं में तुम पड़े हो तुम्हें तो भगवान की सेवा में जाना चाहिए ये बात उनको सुझाते हैं उनको तो उसको भी समझ में आता विभीषण को भी आ जाता है तो अवसर पा करके फिर वो भगवान की राम की तरफ भागता है तो ये देखते हैं कि जो पहले से भगवान के भक्त हैं वे लोग संसारी व्यक्तियों को जब मिलते हैं तो कहते क्या संसार के चक्कर में तुम पड़े हुए हो क्या विश्व भोगों के चक्कर में तुम पड़े हो ये भी कोई जीवन है पशु जीवन जीते हो अरे भगवान का भक्ति करो ज्ञान प्राप्त करो उसका आनंद प्राप्त करके देखो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो कुछ ऐसा करो तो जब भक्त लोग उत्साहित करेंगे ज्ञानी लोग ऐसे उत्साहित करेंगे तब उसके मन में आएगा कि हाँ हम गलती कहीं कर रहे हैं थोड़ा सा हमको जागृत होना चाहिए और मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो प्राप्त करनी चाहिए तो वो कार्य भी <clears throat> सुग्रीव की ओर से हनुमान जी ने कर दिया उनको प्रेरणा दी कि भगवान जी से श्री राम से तुम <clears throat> तुम मित्रता कर लो तो दोनों तैयार हो गए फिर मित्रता करने के लिए तो हनुमान जी ने मित्रता भी कर दी तो फिर क्या किया पावक साथी देकर तिजोरी प्रीत दढ़ा है पावक साथी देकर के मतलब अग्नि की साक्षी दे करके दोनों की प्रीति जोड़ दी प्रीति जोड़ने वाले वैसे ही प्रीति हो गई जब दोनों तरफ की कथा बताई तो वैसे तो कहकर के भी प्रीति दोनों ने आपस में मित्रता कर दी और उसके बाद में मित्रता इस प्रकार से भी कर दी कि अग्नि की साक्षी देकर के सामने अग्नि को रखा <coughs> जलाया अग्नि को वैसे तो कहते वहां अग्नि कहाँ से मिल गई वहां भी थी नहीं माचिस भी नहीं थी तो हनुमान जी ने दो लकड़ियां लेकर रखनी और से चिंगारी निकाली और चिंगारी निकलने से तो उसके बाद में